साधन साधन साध्य दोनों ही साधन और साध्य जाप एक हो जाता है हम्म। न तपस्या बढ़ती न दारिद्र नहीं बढ़ता केवल टेंशन अरे वहाँ तक जाने का है तो सबको एक जगह भी जाने का है हम्म। जैसे लास्ट स्टेशन हम्म। इससे आगे कोई स्टेशन नहीं अक्रम सिटिंग आपकी अक्रम विधि वो क्या है आपकी अक्रम विधि है वो क्या है उस विधि चौरी सिस्टम करना मार्ग जो है वो धोरी मार्ग है हम्म। राजमार्ग है हम्म। वही सच्चा मार्ग है बोध का अक्रम इसका सच्चा मार्ग है अक्रम तो डाइवर्जन मार्ग है जब ये मार्ग ये मार्ग टूट जाता है और मार्ग नुकसानकारक हो जाता है जब डाइवर्जन मार्ग टूटता होता है मार्ग पूरा अच्छा हो जाएगा डाइवर्जन बंद हो जाएगा सड़क पूरी એટલે ક્રમ નહીં કભી કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કભી માર્ગ step by step step by step step by step આગળ ચલે જાઓ મુક્ત અને અક્ષર એટલે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ થી લીક માર્ગ જ્ઞાની બુદ્ધિ લીક નો ભય બીજા શું કરવી પડે दूसरे जाने के लिए कितने बैठ कर कभी किसी ने ज्ञान पाया आज तक ठीक है साहब कहते हैं दूसरे ज्ञानी की लिस्ट में बैठ के कभी किसी ने ज्ञान पाया है आज तक हैं? બીજાની લિસ્ટમાં બેસીને આજ સુધી કોઈને જ્ઞાન થયું છે वो क्यों नहीं हुआ है वो भरत राजा को हुआ था ना भरत राजा को हुआ था वो अक्रम नहीं था वो धर्म नहीं था हाँ हाँ कहीं तो औरतों के साथ और लड़ाई लड़ने के साथ जो हुआ था एक अक्रम था नहीं तो क्रम में ऐसा नहीं होता है क्रम में इनका अक्रम ज्ञान ऐसे समझ लो कि असोचा ही सारे अक्रम ज्ञान में और हाँ चाहे कर्म में ऐसा नहीं होता है तो में तो क्रमिक होना चाहिए और कृति की कृति जुदा होना चाहिए कृति का साथ वो नहीं चलेगा कर्म में क्या बोलता है कि नौमा गुण आगे नहीं जाता है कृति का हम्म। गुण आगे नहीं जाता तो है जो बिल्कुल जुदा ही हो जाता है बिल्कुल जुदा ये प्रकृति से बिल्कुल जुदा दो प्रकार के केवली अहंकार अहंकार जहाँ इधर खराब हो जाता है जिधर कर्म बन जाता बंद हो जाता है कर्म भी बन जाता है वो इधर हंसते धंधा करते खाना खाता पीते पर धर्म कर्म बन जाता नहीं होता एक एक एक अवतार का बन जाता है हमारी आज्ञा पास से रहता है पाक आज्ञा दिया है अच्छा। वो निरंतर पाता है भविष्य कहलाता निरंतर ऐसा भी पैदा पाता है हाँ, क्या पाठ करने ध्यान के साथ निरंतर भविष्य कहलाता है पाठ हाँ। करना नहीं पाता है कानून तो इसलिए कर्म कर्म की तो जिम्मेदारी हमारे इनके लिए है इसमें क्या पांच आज्ञाएं पांच आज्ञाएं શું पांच आज्ञा क्या है वो ज्ञान ये आपकी हम बताएगा मगर જરૂર આપને હેલ્પ નહીં કરે आज को तो। हम हाँ। आज्ञा क्या बताता है हम धीरे से क्यों देता है हाँ। क्या है गुप्ता हम्म। तो। हम्म, हम्म। तो आत्मा भी इसको दिखाने में आता है दर्शन में आता है और दूसरा भी आत्मा भी दर्शन में आता है आसन नहीं कोई कोई चीज आत्मा के साथ गदा देख सकते आपके अंदर सर अंदर वो सब देख देख सकता है आपका हाँ। आपको क्या देख सकता है आपका आत्मा हम्म। तो आंख से आपको देखता है हम्म। ये इसे वो दो दो हम ये आज्ञा देता है कि तुम्हारी कैसी देखने हाँ। हाँ, का आज्ञा ये प्रज्ञा का काम है इंट्यूशन का ये प्रज्ञा का काम है करना करना बुद्धि से आगे वो सब कुछ करना ही हो गई हाँ जहाँ तक बुद्धि की सीमा में है हाँ, तब तक तो ये आप काम हाँ, करेंगे हाँ, और बुद्धि की सीमा से परे प्रज्ञा की सीमा में चला जाता है ये तो आदमी को हमने बोला है कि एक चिंता था तो हमारे पास चिंता भी नहीं तो कहती है समाधि तो समाधि रहना चाहिए निरंतर समाधि हम्म। और भारत के साथ लड़के के साथ कोई भी कोई भी स्टेट में समाधि रहना चाहिए जब अभिज्ञान चौबीस स्टेप का अभिज्ञान मेरा अभिज्ञान नहीं है तो हाँ। मैं तो उल्टा नहीं हूँ विज्ञान मेरा नहीं गौरी तीर्थंकर भगवान का मैं तो उसका खाली वो सब लोग क्या बोलता है कि क्या अपना मार्ग दादा भगवान का है चला है नहीं महावीर भगवान का शासन रखता है क्या रखता है महावीर भगवान का और हम इसका कलश है हाँ, हाँ। सर आपने ये कैसे प्रश्न आपने ये कैसे प्रश्न तो निमित्त कैसे बन गया तो निमित्त कैसे बन गया निमित्त कुछ नहीं हुआ एक जगह में बैठा हाँ। और जो यार करके बैठा मैं हाँ। साढ़े पाँच बजे दूध हाँ। दिन थे सिद्ध थे जेल में चौहर किया तो साढ़े पाँच बजे उतर गया छह बजे तो छह बजे बैठा उचाल हो गया पाकड़ा में नहीं तो ये जो आपकी भाषा है यह जैसे सारी भाषा बाद में ही हुई या पहले भी आपकी ये संस्कार थी आपकी ये जो भाषा हुई ये बाद में हुई कि पहले आपको ये संस्कार थे या ये सारी गुजरात की भाषा है गुजरात की भाषा जो निकली ये पहला आता संस्कार के आज पति था पहला संस्कार था पर जो वाला संस्कार था वाणी ऐसी थी अच्छा तो इगोइजम पॉइजन हाँ ईगो के साथ था वजन बिल्कुल क्या करेगा उसका सिर टूट जाता है खाना आता है तो हाँ। घर नहीं करता है अभी तो खड़ा हो गया वो दिन वो विनाश हो गया वो दिन विकास हो ममता भी खराब हो गई हाँ। सब दुनिया कहती कर रही है वो भी देखा भगवान कौन है देखा किसने बनाया कैसे चलता है किस घर से चलता है में क्या है राइट में क्या है सब देखा और सब दुनिया कैसी घूम रही है तो रॉन्ग से घूम रही है हाँ। तो ये महावीर की भाषा तब प्रगति है हाँ। ये महावीर की भाषा तब प्रगति महावीर की भाषा प्रकट से हम क्या पूछता है क्या नाम से करता जेठा भाई जेठा भाई जेठा भाई अरे जेठा नहीं भाई તમારું નામ જેઠાભાઈ તમે જેઠાભાઈ કે હા ઓય તમે તમે બતાવી પડ્યા છો એક સાધુ છે कितनी नामकरण की सारी प्रकृतियाँ ही आरोपित है ये नामकरण की सारी प्रकृति नाम कर्म नहीं कर्म नहीं कर्म नहीं नाम कर्म नाम कर्म की सारी प्रकृतियाँ आरोपित ही है तो फिर ये जो रामदलित तत्व है हाँ। वो रामदलित ज्ञानी गुरु क्या करता है रामदलित को फैक्टर कर देता है और राइट जा रहा है राइट में लाइफ में जिसको संघर्ष होता है वो कट्ठा दर्शन आप ये है ये नहीं है आप ये है यही तो वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना यही वेद विज्ञान है कर्म के भीतर अकर्म को देखना अपम्मा जाने पासी अपम्मा जाने पासी अकर्म जानता है देखता ये दुनिया में कोई आदमी माँ खाने को पसंद करे करता है कोई पसंद नहीं करता कोई आदमी नहीं पसंद नहीं हमारे यहाँ भी हजार आदमी माँ खाने से समाधि होती है हम्म, हम्म। ज्यादा समाधि समाधि में रहता है मतलब बात करने से ज्यादा समाधि कैसे कैसे माँ खाते हैं <laughs> हाँ। कैसे माँ खाते हैं क्या है કેવી વિધિ છે માર ખાવાની એ પણ હાથ દુખે ને હાથ દુખે એક એક એક એક નકલ છે એક એક તમારી શેરી પર મોક્ષ છે આત્મા મોક્ષ લઈ ભરે છે जैसे प्रयोग है આ ભગવાન સિવાય જીતે પણ મોક્ષ છે અને મોક્ષ મળ્યા પછી ખૂબ ઉપાય છે કોઈ તમે- ઉપાય નહીં तुमको क्या लगा है क्या लगा तुमको वो सब ब्रह्मचारी है बात सब ब्रह्मचारी मन नहीं, से नहीं, क्या क्या लगा એ तुमको પૂછે છે તમને नहीं तुमको नहीं क्या तुमको नहीं उनसे पूछ रहा हाँ એમને પૂછે છે કે तुमको क्या लगा है जब अभी मार खाई क्या लगा तुमको વાતચીત કરે સાહેબ જોડે. વાતચીત કરે हैं? શું વાતચીત કરે हैं? बताओ बोलो क्या लगा એમાં સૌથી મોટા રૂપિયા બોલવું પડે એટલે કાયદો છે हाँ हाँ કારણ बहुत કે મોટો છે हाँ हाँ बहुत बड़े વાતચીત કરે સાહેબ क्या लगा तुमको? તું તો પાછા એના રહું છું કેટલો વખત રહું છું નિરંતર નિરંતર તને ચિંતા ચિંતા કશું જ નહીં અને મારે તો કશું જ નહીં હા સંસારમાં રહું છું ને नहीं कष्ट तो हुआ નહીં કષ્ટ નહીં हुआ नहीं दो बात है देखो एक तो कष्ट होता है और हम सब भाव से सहन करते हैं। एक तो कष्ट होता है उसको सब भाव से सह लेते हैं और एक कष्ट का संवेदन नहीं होता दोनों में क्या स्थिति बनती है बताओ दो बातें अलग अलग एक तो कष्ट का संवेदन तो होता है पर बिल्कुल समभाव में रह जाते एक कष्ट का संवेदन भी नहीं होता क्या स्थिति बनती हमारा संभव नहीं नहीं यह को कुछ नहीं लगता कष्ट का तो अनुभव होता है पर संभाव रख लेते एक तो यह स्थिति दूसरी है कि ऐसी स्थिति में आदमी चला जाता है कि जहाँ संवेदन ही समाप्त हो जाता है क्या स्थिति बनती है શું થાય એક સંવેદન થાય પણ એમાં પોતે સંભાવ મારે અને બીજું બીજી સ્થિતિ એવી કે જેમાં સંવેદન જ ના થાય તો કે તને શું રહેશે એને તો મને સંભાવ રહે એને એવું કહ્યું કે મને સંભાવ રહેશે એટલે અમે બીજી સ્થિતિ એવી છે કે એમાં કચ્છ ની સંવેદન જ ના થાય સંભાવ રાખવાની જરૂર ના રહે એવું સંવેદન જ ના થાય સંવેદન જ રહેશે સંભાવ રાખવાનું પડશે સંવેદન જ રે જીવન સંવેદન સંવેદન ભાઈ થોડ ભાઈ ભાઈ हाँ थोड़ा सा उधर हाँ હા हाँ हाँ भाई थोड़े से भाई थोड़े भाई इधर हाँ हाँ हाँ आपने क्या कहा मैं सुन नहीं सका हाँ नहीं आप આપ શું કહેતા આ- આ नहीं कष्ट का संवेदन और इस बारे में आप क्या कह रहे थे કષ્ટ નું સંવેદન એમ આપ એના આપ એના વિશે કંઈ કહ્યું ને આપણે એમને સ્વ- સ્વસંવેદન રહે છે કઈ બોલ્યો નહીં हाँ તમે તો એમ કહેતા હતા. ये आप बताइए ये अब स्पष्ट नहीं कर सकते સ્વસંવેદન રહે હા. શબ્દો એટલે ના આવડે આ લોકો હા, ઠીક છે, કોઈ વાત નહીં. ના આવડે. બિચારા આ તો બે કાપા નથી આવડતું ठीक है कोई खास बात नहीं आप कहिए આ તો જ્ઞાની પુરુષ ના ખોરાક બેઠા એટલે ભગવાન થઈ જાય લે हाँ आप कहिए आप આપણે ક્યાંથી આવડે ને? પણ પોતે અનુભવ કેવો છે नहीं आप कहिए आप क्या कहें તમે કહો કે છે समय को एम કે શું રહે એમ એ સંવેદન વિશે આપ કહો એમ કે છે. नहीं कष्ट का संवेदन नहीं होता या कष्ट में संभाव रहता है બે વસ્તુ કહી અમે એક તો કષ્ટનું કષ્ટનું સંવેદન થાય કષ્ટનું સંવેદન થાય પણ એમાં સંભાવ રહે એ એક વાત અને એનાથી આગળની સ્ટેજ કષ્ટનું સંવેદન જ ના હોય પ્રશ્નનું સંવેદન જ નહીં આમ. બસ સર. એક પણ વીસ હજારમાં કોઈ એક પણ માણસને પ્રશ્નનું સંવેદન જ નહીં થાય हाँ। संवेदन नहीं हाँ, पर संवेदन तो नहीं पर जैसे कांटा चूहा अब कांटा चुभता है तो दर्द होता है तो क्या है हमको ज्ञान देते हैं ना हाँ। तो आप आपने जो कहा ना कि बहुत परिस्थिति होती है पर एक परिणाम में कष्ट होता है लेकिन उसके प्रति संभव यानी उसके प्रति उसका उसका एक हथियार है एडजस्टमेंट रहा और दादाजी जो ज्ञान देते हैं उसके बाद जो हम हमारी स्थिति रहती है हाँ। तो उसमें ये सब कोई बीतने का मीडियम ही नहीं है डायरेक्ट हाँ। ये अनुभूति रहती है कि जिसको कष्ट होता है हाँ। वो ये एक स्वरूप दिखाता है और खुद ज्ञाता पद में रहता है यानी वो दोनों के बीच में अहंकार नहीं है अहंकार रहा तो उसको संभाल रखना पड़ता है लेकिन यहाँ तो सीधा हो गया और खुद ज्ञाता है समय का नहीं होता अहंकार की बात जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है अब ऑपरेशन करता है तो दर्दी को दर्द तो होता है पीड़ा तो होती है पर कुछ लोग ऐसे हैं कि ध्यान में चले जाते हैं और उसे समभाव से खेल देते और अनस्थेसिया का प्रयोग कर दिया तो संवेदन भी नहीं दो स्थितियां बनती हमारी चेतना की हो तो एक तो वह स्थिति बन जाए कि जिसमें अनस्थेसिया की तरह ऐसी स्थिति के संवेदन शून्यता आ जाए जहाँ संवेदन ही नहीं आपका जो कहने का मतलब ये है कि हाँ। बॉडी को भी इफेक्ट न हो हाँ हाँ नहीं वो धीरे वो जो धीरे गौरी को सच नहीं हाँ शरीर में जो अनुभूति हो कभी कुछ लग रहा है कुछ लग रहा हाँ। पर ध्यान नहीं ज्ञान ध्यान तो पूरा होगा ज्ञान में तो पूरा रहेगा हाँ। लेकिन उसकी असर खुद को नहीं होगी जो जिसको होता है वो खुद नहीं है वो स्वरूप मेरा नहीं है हाँ। और जो और खुद का स्वरूप जो है वो दोनों अलग दिमाग के विज्ञान तो ठीक है वेद विज्ञान विज्ञान से ही अलग रहता है हाँ, वेद विज्ञान से तो अलग रह सकता है हम्म। पर मैं समझता हूँ भी प्रधान होता है संभाव जो आप कहते हैं ना हाँ। उससे भी आगे की स्थिति तो ये अभ्यास कराया जाता है कुछ दिनों नहीं नहीं वो तो ज्ञान देते एक घंटे का प्रयोग है एक घंटे का एक घंटे तक लगातार ऐसे जोड़ देते हैं नहीं नहीं नहीं वो जो ज्ञान विधि देते हैं ज्ञान हाँ। वेद विज्ञान देते हैं हाँ। उस वक्त ये खुद तुम्हारा खुद का स्वरूप क्या है हाँ। और ये बाकी का जो अनात्म विभाग है उसका हर एक परमाणु परमाणु किस तरह अलग है वो अलग बता देते आप ज्ञान विधि सूचे ज्ञान विधि सूचे पूछे ज्ञान विधि सूचे पूछे थे पूछे ज्ञान विधि तो बेहतर है સેપરેશન ઉજ્જવલ અને આત્માનું ચેતન શુદ્ધ ચેતન એ તો સિદ્ધાંત ઠીક તેનું સેપરેશન કેવી રીતે છે કેવી રીતે આપો છો છે પ્રયોગ કરીને બતાવશો એ તો તમે આપ એ પ્રયોગશાળામાં આવશે બધા પ્રયોગ કરી નાખીશું આપણે नहीं नहीं कोई आपके जैसे आपको कराया है वैसे कराया नहीं, वो लेबोरेटरी में आएगा तब ये प्रयोग होगा विदाउट लेबोरेटरी नहीं होगा એનું ટાઈમ टाइम लगती है ना नहीं, समय। अभी अभी नहीं, अभी प्रयोग एक बात करो। नहीं नहीं अभी प्रयोग की नहीं प्रयोग कैसे कराते हैं बच्चे की એટલે શું સમજ આવે ને મારા સાહેબ કે જે પ્રયોગ કરે છે ને જ્ઞાનથી વિધિ હોતી है આપના આ બધા શિષ્યો છે એમાંથી બે દિન અમારી પર મોકલો हाँ કે ભાઈ તમે આ પ્રયોગ કરીને પાછા આવજો તો પ્રયોગ કરી આપો પછી એમને તમને અહીંયા આગળ સ્વસંવેદનનું જ્ઞાન વધશે તમને પોતે કહે છે કે આ પ્રમાણે થયું हम्म, એક્સેલ પોતાનું ये અને अड़तालीस તો मिनट લાઈટ का નથી. प्रयोग है લાઈટ માંથી લાઈટ થાય બાકી લાઈટ વગર લાઈટ ન થાય એક લાઈટ માંથી બીજી લાઈટ થાય હોય હવે બંધારણમાં એની મેળે લાઈટ નહીં થાય લિમિટ જે છે લિમિટ मैं मैं पूछ सकता हूँ मैं जैसे आपने किया होगा हैं? आपने किया आपने तो एक बार के प्रयोग के बाद आपकी क्या स्थिति बनी एक ही बार करते हैं एक घंटा हाँ, नहीं तो जैसा हमने देखा उस पत्रिका में राजेश श्याम जी लाए थे उसमें मैं देखा तो उसमें वह था भी जो यहाँ जो हाँ, हाँ। वो तो समर्पण विधि है वह यह नहीं हाँ, वो ज्ञान विधि नहीं अच्छा हाँ, वो समर्पण विधि है ज्ञान विधि स्पेशल दिवस में हाँ। दादा जी अपना ज्ञान का जो सेपरेशन करने का है स्पेशल दिन में ऐसा करते हैं अच्छा। स्पेशल समय पे अच्छा। साथ में आपने जो बताया ना वो ज्ञान के पहले समर्पण विधि करते हैं उस वक्त है कि करना पड़ता है और अपना सब भी मन वचन काया सब कर्म सब उनके ज्ञान के चरण में अर्पण करते हैं हाँ, हाँ। और अपने पास सिर्फ अपना केवल शुद्ध आत्मा रहता है हाँ। और फिर दादा जी ज्ञान बताते हैं हमें बोलते हैं हमें सिर्फ रिपीट करना रहता है वो जो जो भी कुछ बोलते हैं बोलते जाते हैं हाँ फिर स्वयं निकलती है एक एक बार एक एक ये देह के पुद्गल का एक एक परमाणु क्या किस तरह अलग है हमसे हाँ। वो सब विवरण करके बताते हैं हम्म। और वो वो शब्द वो ज्ञान नहीं है हाँ। लेकिन हमारे में जो प्रकट होता है वो ज्ञान है हम्म। और वो जो प्रकट होता है उसकी महत्वता ज्यादा है तो मतलब पहले समर्पण विधि फिर ज्ञान विधि हाँ, दोनों क्रम चलते दोनों अलग नहीं होता पहले समर्पण और फिर ज्ञान हम्म। समर्पण यानी क्या है कि हमारे सब कर्मों का समर्पण है हाँ, हाँ। और आत्मा तो अपने पास रहता ही है उसका बस तो और वो कहाँ समर्पण- जाता है? वो ले ले वो समर्पण यानी वो कुछ ले भी नहीं लेते हे हैं। तत्वाले हेच का- हे કરીએ છીએ हे તરત हे કરીએ છીએ ઉપાધિ उपाधि उपाधि हम्म, जो ઉપાધિ ज्ञान- એના શબ્દ ઉપાધિ થઈ જાય છે હે હે થઈ જાય છે પુણ્ય પાપ હે થઈ જાય છે અને જે અનંત અવતારનો ભરેલો પુણ્ય પાપ નો દરિયો છે ઉપાધિ कुछ है ही नहीं જ્ઞાનાકૃતિ જ્ઞાનાકૃતિ ફરતો થઈ જાય છે नहीं देह मिल जाता है उपाधि कुछ है ही नहीं हमारे लिए उपाधि तो ठीक है એમ કે જે હે મટી જાય પછી ઉપાદેય કશું રહેતું નથી ઉપાદેય તો આપણી અંદર જ છે उपाधि कुछ है ही नहीं लेना कुछ नहीं है कुछ नहीं ઉપાદાન પોતે જ છે होते ही ફક્ત નિમિત્ત છેલ્લામાં છેલ્લું નિમિત્ત જેવું હોય તો ઉપાદાન प्रयोग बात मैं नहीं देने अभी किया था मैं શું કહે છે? मैं इनको बता रहे कि मैं जो प्रयोग किया था अभी कष्ट सहन का नहीं देखा ये बात ये है। हाँ ये बात है શું કહે છે? તો પેલો માર્યું ને તે કે બેન આ તમે લોકો હતા કે ના અમે નતા માર્યું ને બૂટ માર્યો ને એ વખતે આ લોકો તમે જોયું એમ પૂછે છે તો કે ના અમે નતા હતા ને શું કહે? हाँ ના આ- આ લોકો- આ લોકો પછી આવ્યા હતા. એમને સમજવાનું છે તૈયાર થાય છે ને બહાર પરદેશ જવાના માટે તૈયારી થાય છે એમને એટલું ટ્રેનિંગ મળે છે બધી એક ક્યાં હોય जगह तो नहीं इसके भीतर है देख लेगा तो लोग मार से भागते हैं या लोग आते हैं लोग मार की भागी जा रही है मार खा रहा है मार हमको बोलता है हमारा हाथ उठता है ये उल्टी बात है ना अपने कहते हैं कि संसार से अपूठा ने मोक्ष से फामा हाँ हाँ, हाँ। हमको लोग राजा भगवान करता मैं ना बोलता हूँ राजा भगवान हूँ मैं नारी बोलती आप दुनिया में कोई भी शास्त्री कोई भी बात आप पूछो तो इनका जवाब गर्व एग्जैक्ट नहीं मिलेगा इसलिए वेदांत हो कि ढेरी जब हो चार अनियोग हो चार वेदांत हो कोई भी मुस्लिम हो अमेरिका में सब ये लोग भी थी मिलता था राइस का सब्जा सब आत्मा का आनंद ज्ञानी ज्ञान ज्ञान है फिर ये भेद नहीं होता वेदांत का से दक्षिण का अमेरिका का और हिंदुस्तान का और ये ये लोग है नहीं चिंता क्यों नहीं होती ये भविष्य में देखने की कोई जरूरत नहीं तो वर्तमान में रहता है भविष्य में कभी नहीं गया पर भूतकाल में भी गया नहीं भविष्य में गया नहीं वर्तमान अभी इधर है तो इधर ही घर को नहीं वहाँ घर को जाएगा इधर ये बिल्कुल ठीक बात है तो वर्तमान वर्तमान में रहता है बिल्कुल वर्तमान में रहना ही प्रेक्षा है वास्तव में अतीत और भविष्य से कटकर केवल वर्तमान में जीना इसमें समझ कोई आई आपको आनंद हुआ कि खराबी लग गया <laughs> नहीं यह प्रयोग है कि ये भीतर में आत्मा आत्मानुभूति में रहे हम भक्षक नहीं है रक्षक है हाँ। ऐसा भक्षक की बात किया करता है <laughs> भीतर में रक्षक बाहर में भक्षक हाँ, लगता ऐसा ही है व्यवहार में तो ऐसा लगता है कि आप चोट कर रहे हैं <laughs> जैसे अपने कहते हैं कि जो गुरु होता है गुरु होता है वह कुम्हार की तरह होता है तो कुम्हार घड़ा बनाता है बाहर से तोड़ देता है भीतर में सुरक्षा करता है કે જે એવું કહેવાય છે કે ગુરુ જે છે એ કુંભાર જેવા હોય એટલે બહારથી પીસે પણ અંદરથી એને अंदर રક્ષા आके આપે. हम हाथ रखता है अंदर हाँ रोको ना पड़े रोको ना रोको तभी तो कुम्हार आकार कुम्हार कुम्हार है। तभी तो आकार में आता है कुम्हार तभी घड़ा बनता है कुम्हार कलाकार कहवाय अंदर राखी प्रतीक तभी घड़ा बनता है तभी घड़ा बनता है ત્યારે જ ઘોડો બને કે છે હે? ત્યારે જ ઘોડો બને આકાર થાય ત્યારે જ ઘોડો બને એ બધા સબ એટલે કહે કઈ ગયો તો ભરત અહીંયા આવી अब जाओ भरत भैया ये भरत भाई है यहाँ ब्रह्मचारी है हाँ। तो दादा के साथ रहते हैं दादा की सेवा करते हैं और सब चीज का अनुभव किया हुआ है अच्छा इंजीनियर था हाँ। पंद्रह सौ बता देता था हाँ। उसको हमको एक करोड़ मिला फिर इनका भाषा को बोल दिया हम हमारी सर्विस तेरी यही नहीं हम करा के पास रहेगा हम्म। मैंने बोला कि इधर क्या कुछ तो काम है हमको कुछ काम नहीं कर हम्म। तो बोले बोलेगा तो आप बाहर बिठा दो इधर भी बिठा दो आपकी नदी में बिठा दो हम्म। तभी सर्विस करो कुछ करो और लगना करो बाहर तक लगने को मंगता है तो ब्रह्मचारी कैसे रहेगा भाई संशय रहना है पहली बात नहीं हम्म। तो आपसे टुकड़ा करो तो हमको ब्रह्मचर्य कि ब्रह्मचर्य के लिए तो हमने किया हम्म। फिर इनको एक बुद्धि की इतना भी बुद्धि नहीं है और इनको ये मानता था कि हमने सब सब गुण दिए वो ऐसा हम्म। मानता क्या मानता था सबको मूर्ख अपने को मूर्ख है इनका फायदा मतलब सबकी बातें भूल में आप समझ देखो मैं तो बुद्धि के खतरों को जानता हूँ ये कहते वो मैं बुद्धि के खतरों को जानता हूँ हाँ। दोनों दोनों दोनों जीवन मैंने जिए बुद्धि का साहित्य का जीवन भी बहुत जिया है अब मैं दूसरा जीवन भी जी रहा हूँ दोनों को जानता हूँ ये दोनों जीवन मैंने जिए है हाँ। बुद्धि के साहित्य का जीवन भी मैंने जाना है और ये आपके साथ आपको पूरा हुआ है नहीं तो इतनी बात हमारे साथ वो सब आचार्य लोग नहीं कर सकता है जो हाँ। अनुभव होना चाहिए अपने को खुद का अनुभव होने से बात कर सकता है मैं ये मानता हूँ कि शायद मैंने पढ़ा बहुत कम लोग जीवन में पढ़ते हूँ हाँ, हाँ। जितने विषय पढ़े ये भी मानता हूँ और प्रज्ञा का मूल्य उससे कितना ज्यादा है उसका मुझे अनुभव फिर एक दफे हमको रखा बोला कि दादा आप सबका क्यों करता है मैंने समझ गया कि यह अभी का मदद कैसा है मेरे को पत्थर बोले इतना हर्ष नहीं पर उनका क्या हो जाएगा हाँ। मेरे को तुम गाड़ी दो मेरे को है कभी मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा इसलिए हमको तकलीफ है हाँ। हमारे हमको हमारे लिए तकलीफ है तुम्हारे फर्क नहीं पड़ेगा तो मैंने बोल दिया कि तुम बोलते हैं कि दादा आप पक्षपात करते हो तो मैंने बोल दिया कि तुम्हारे लिए इधर रहने का हो तो तुम्हारी तुम्हारी सब लॉ बुक है फेंक दो एक लॉ का है तो तीन महीने के बाद लोग फेंक दिए फिर हम्म। बुद्धि की बात बोल कि एक सेंट भी बुद्धि तुम्हारी बात औसारिक नहीं है धार्मिक तो नहीं है आध्यात्मिक तो नहीं है पर संसारिक भी नहीं है हाँ। तो इसको फेंक दो तो फिर भी मेरे साथ बल्ला किया हम्म। बल्ला किया हाँ। ऐसा आदमी सच्चा होता है सच्चा और बड़ा होता है हाँ। <laughs> हम समझ गया बिल्कुल सत्य सत्याग्रह सब आप भी नहीं मिलेगा हम्म। जिसको पैसे की ममता नहीं कोई ममता और हाँ। की ममता नहीं पैसे की ममता नहीं हाँ। सत्या आदमी कहाँ मिलेगा तो हम मैंने बता दिया तुम कुछ भी नहीं है जीरो हाँ। फिर इनकी भीड़ जीरो हो गई जब इसकी आबादी बलवा समाप्त हो गया आबादी शुरू हो गई इसके बाद मैंने जीरो એટલે ये सब क्या बोलता है हम्म, कि भाई नहीं आए जय जय ये और इनका फादर हाँ दोनों बॉक्सिंग करते लड़ते दररोज हाँ मैंने बोल दिया कि क्या चीज है तो वही क्या बताता है कि मेरा फादर का दोस्त था फादर बड़ा आदमी है राज पाकर बच्चा वो बताया गया लड़का था वो इतना इतना की गांठ हो गई है तो फिर हमको बोल दिया क्या पूछ करके गंती निकाल तो हमने बोल दिया तुम आस्ते आस्ते निकालो हम कैसी करेगा ये दोनों बोलने लगा था तो हमने एक घंटे में गंदी तक तोड़ दिया हम्म। फिर ये दोनों को कुछ नहीं बताया ज्ञानीपुर हम्म। के पास इनकी इनकी बीच में इतना इतना बल रहता है कि सब कुछ हो जाता है वचन बल होता है वचन बल हम्म, हम्म। मनोबल वचन बल भाग बल तीनों होते हैं हमारे काय बल तो नहीं है पर मनोबल वचन बल ये ब्रह्मांड की ताकत के बराबर है नहीं काय बल से मतलब चर्बी वाला काय बल ये चर्बी वालों का काय बल नहीं होता काय बल होता है कि जिसके हर सेल में प्राण शक्ति सक्रिय हो जाती है हाँ, तो अभी अभी कुछ ऐसा आशीर्वाद दे दो सबको ये सबका इसको सबको आनंद है अच्छा राधे श्याम जी आगे दिल्ली से पहुँचे विष्णु भाई आगे विष्णु भाई भी आगे अच्छा पूरा आपका परिवार आगे आज थोड़ा बहुत आज बहुत अरे कम पूरे है से मतलब ये नहीं हाँ संख्या में मत ठीक है गुणात्मक लोग हाँ क्वालिटी ક્વોલિટી કે બધા આપણો પરિવાર આવી ગયો છે એમ કે છે क्वालिटी मेरा कोई नहीं मैं इनका हूँ मेरा कोई आप इनके एक ही बात से तभी तो परिवार बन कोई चीज मेरी नहीं है अभी कोई ले ले हाँ। तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं सब कपड़ा कपड़ा ले ले तो हरकत नहीं नहीं ले ले तो भी हरकत नहीं मेरी कुछ चीज नहीं मैं हम उनका निरंतर जाने को भी लेबोरेटरी रखनी पड़ती है या आश्चर्य हाँ, को निरंतर लेबोरेटरी में ये कराना पड़ता है हाँ। ये आश्चर्य लगता है निरंतर जानी है इसको लेबोरेटरी होती है हाँ, આપણે જ્ઞાન વિધિ ની વાત કરી ને અહીંયા લેબોરેટરી માં અપાય તો કે જ્ઞાની ને જેને નિરંતર લેબોરેટરી હોય એને ખાસ લેબોરેટરી માં કરવું પડે પ્રયોગ એ જાણીને આશ્ચર્ય થયું તો પ્રયોગ તમે કહ્યું ને લેબોરેટરી માં થશે અહીંયા નહીં થાય તો એ જાણીને આશ્ચર્ય થાય આશ્ચર્ય લેબોરેટરી विजय का असर है हमारा खाना नहीं खोजा खाएगा हम्म। नहीं खाएगा नहीं हम्म। हाँ? और पहला खाता है ऐसी कुछ नियम होता है नियम हाँ। देश और काल का भी योग होता है ठीक है देश और काल देश और काल का भी योग होता है हाँ, नियम तो होना चाहिए कुछ नियम बिना नहीं द्रव्य क्षेत्र काल और भाव चारों निमित्त होनी चाहिए अभी कोई आदमी सो जा रहा है जितना खराब दिखाता है और रात के नहीं सो जा रहा है तो भी खराब दिखाता है <laughs> ऐसा कुछ नियम होना चाहिए आप कुछ आपका आशीर्वाद चाहिए हमको नहीं ये सबको ये ठीक है ठीक है जैसे दर्शनावरणीय कर्म निरंतर उदय में रहता है पर नींद का निमित्त रात को बनता है ज्यादा બરાબર છે જેમ દર્શનાવરણ નું કર્મ નિરંતર હોય જ પણ રાત્રે એનું વિશેષ હોય हाँ, प्रभाव निमित्त પ્રભાવ रात को એનો बनता વધારે है इसीलिए हर बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव इस चतुष्टयी के साथ ही हो सकती है शायद कोई भी कार्य होने के पहले उसकी टाइमिंग हाँ, जाना तो हाँ, तो हाँ। है बैठेगा मेरी बात आपको कोई प्रश्न नहीं है आपको संतोष नहीं हुआ है मेरी बात नहीं हुआ है संतोष नहीं हुआ है नहीं हुआ है। નથી તો हैं? સંતોષ નથી टाइमिंग चाहिए स्पेस भी चाहिए क्षेत्र काल जो- स्पेस टाइमिंग स्पेस बीजा कितना साइंटिफिक सेटअप से एविडेंस जगह થાય तो उसकी कार्य होता है निज कार्य नहीं होता है अपना अपनी खुद की मर्जी से कार्य नहीं होता है वो टाइमिंग सब सर्कम से एविडेंस जगह हो जाता है सब कार्य होता है सिद्ध शिला सिद्ध शिला में जाकर बैठता है तत्काल केवल ज्ञान होने की सुविधा हो जाती है अगर स्थान नहीं मिलता है तो नहीं होती लंबा समय लग जाता है એટલે સિદ્ધ શિલામાં જવાના સ્થાનનું એ એ ના થાય ટાઈમિંગ ના મળે તો કે છે કે કેવળ જ્ઞાન થયા પછી લંબાઈ છે કામ नहीं नहीं सिद्ध शिला एक हमारे यहाँ मनुष्य लोग हैं। મનુષ્ય લોકો हाँ, उसमें जाने वाले को केवल ज्ञान की बहुत जल्दी सुविधा हो जाती है वो अन्नाड़ी देश में चले गए ના એ કે છે સિદ્ધ શિલા જે આપણા પૃથ્વી પર સ્થાન છે ત્યાં જાય તો એને કેવળ જ્ઞાન થવાની સુવિધા વધારે થઈ જાય છે हाँ भाई क्षेत्र का प्रभाव ક્ષેત્રનો પ્રભાવ क्षेत्र का प्रभाव काल का प्रभाव धरती का प्रभाव भगवान को भी आर्य देश में से नि- अनादि देश में बिहार करके अनार्य देश में जाना पड़ता था हाँ। पड़ा था अनार्य देश में जाना पड़ता था ऐसे कुछ न कुछ होना चाहिए आपको संतोष नहीं हुआ कभी संतोष हो तो तो जाएगा नहीं ऐसे नहीं संतोष कह रहा है संतोष हमको तो आपके लिए संतोष है मैं ऐसे कह रहा था कि जो जैसे वितराम भगवान है हाँ महावीर से तो उनको जब जो प्रश्न का उत्तर देना था जो विधि देनी थी तो उसके लिए कोई अलग ऐसे क्षेत्र काल विधि तो जैसे होगा होगा जो ज्ञानी पुरुष होते हैं उनका विशेष सामर्थ्य होता है जब हम शक्ति को मानते हैं तो उस क्षेत्र को भी खींच के ला सकते होते हैं समय को भी उसमें पैदा कर सकते हैं वो એમ કે છે કે ભગવાન મહાવીર વિતરાગ હતા એ એમને છે તો આવું જો હોય કે જે ટાઈમે જે ક્ષેત્રે થાય ત્યારે કરે તો પછી એનું સામર્થ્ય આવા પુરુષોનું કઈક સામર્થ્ય હોય કે જે ક્ષેત્રને ખેંચી લાવે કાળને ખેંચી લાવે नहीं वो महावीर में बिल्कुल सामर्थ्य नहीं था नॉट अ सामर्थ्य हम्म, हम्म, ये नहीं होता हमको भी सामर्थ्य नहीं देखो नहीं होता ही नहीं है देखो साहब हमको भी सामर्थ्य नहीं हाँ, हाँ। हम तो आपने पोता खुद का खुद का पोता बना नहीं है हम पोटले ले जाता है तो हमको हमको ले जाता है हाँ, अच्छा। नमो वितरागाय हाँ <laughs> जी। अभी आ- हाँ साहित्य के संतोष करने के लिए हमारे क्या बोलने की जरूरत है नहीं, संतोष नहीं है। नहीं संतोष हो गया मैंने कह दिया ना आपकी बात का मैं समर्थन करता हूँ हाँ हाँ इसलिए संतोष है। એટલે તમારી વાતનું એમને સમર્થન કરું કે એટલે સંતોષ છે हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव को खींचना अपने किसी एक के बस की महावीर बात का ही सभी है अपने हाँ, महावीर का ही महावीर का है। बिल्कुल ठीक है। અહંકારી હતા हाँ, पर केवल ज्ञान का आराधक ही है अगर केवल दर्शन केवल ज्ञान अगर का- ऐसा होता पर कटाई का अभाव करने के लिए सब जगह हो रहा है नहीं अगर ऐसा होता तो महावीर सबसे पहले गौतम को केवली बनाकर ही जाते पर बने बाद में <laughs> એવું જો હોત તો મહાવીર ગૌતમ ને સૌથી પહેલા કેવડી બનાવી જાત પણ આ તો પછી થયા हाँ पति है क्योंकि प्रशस्त राग था इनके हाँ प्रशस्त राग बहुत और ये सबको भी हमारी हमारी हाँ, हमारे साथ सब प्रशस्त राग है सबको तो मैंने बोल दिया भले रहने दो वो प्रशस्त हाँ, राग क्या काम करता है प्रशस्त तो मत करो प्रशस्त राग क्या काम करता है संसार संसार का राग टूट जाता है और प्रशस्त बैठ जाता है इसलिए सबका प्रशस्त राग मेरे से है बस दूसरा कुछ नहीं। गौतम का महावीर के प्रति प्रशस्त राग था ठीक है जी ગૌતમ का महावीर के प्रति प्रशस्त प्रशस्त राग प्रशस्त हाँ राग। और बहुत छोड़ दिया उन्होंने पर जब तक महावीर रहे नहीं छोड़ सके हाँ महावीर गए समाप्त हो गया और ये लोग का बिजनेस क्या है अभी हम्म, हम्म। उनको समाधि हो गई चिंता मच गई और नहीं बड़ा अच्छा है नहीं दोस्त जितने में मोक्ष मिलने वाला ये भी चौकस हो गया हाँ। मतलब अभी काम धंधा क्या है इसका बिजनेस क्या हाँ। तो इनका बिजनेस क्या है कि सबको जो सुख हमको मिला है ये सुख सबको मिलो ऐसा ही बिजनेस है दूसरा भी कोई बिजनेस नहीं और हिंदुस्तान में और जो जिसे पुण्य धर्म समझता है हाँ, हाँ। वहाँ वितराग का धर्म खुला हो जाओ अच्छा। समझता है अच्छा उद्देश्य है अच्छा है का धर्म अभी धर्म नहीं है नहीं हमें तो इसीलिए प्रसन्नता हुई इधर गच्छ है यहाँ वितराग नहीं है वो बोलता है गच्छ वाला साधु हमारी बात मैंने एक बोलता है कि तुम्हारा शत्रु तुमने कैसा थे दीक्षा दिया तो आपको कैसा दीक्षा हो गया हमने हमारे गुरु महाराज हम्म। हाँ, ने दिखा दिया है कोई गत की दीक्षा है सच्ची दीक्षा नहीं है विकास की दीक्षा है सच्ची दीक्षा है घट की दीक्षा एकांतिक दीक्षा है अनेक की है हमने अनेक दिखा दिया है और जब तक भेद विज्ञान नहीं होता तो सम्यक दर्शन ही नहीं होता दीक्षा तो बात की बात चरित्र बात की बात और वो नमस्कार मंत्र है नौकार मंत्र है हाँ तो एक एक आचार्य हमारे बोलता था ये नौकार मंत्र हम कितने आदमी को देता है कि फलित क्यों नहीं होता है हम्म। मैंने बोल दिया तुम्हारा कुछ समझ में नहीं आता है तुम्हारे की समझ नहीं होगी तो फलित क्यों नहीं डॉक्टर डॉक्टर अच्छी तरह दवा देने वाला है और दर्दी अच्छा है फिर आज दर्दी को आराम होना चाहिए हम्म। तो बोल दिया मैंने मैंने दवा भी अच्छी दिया है दर्जी भी अच्छे क्यों नहीं होता है मैंने बोल दिया कि नौकर नमस्कार मंत्र कैसा बोलता है आप बता दो हमको हम्म। तो बोलने लगा हाँ। कि नमो वाली घंटा नमो सिद्धाराम तो मैंने बोल दिया कि नमो सिद्धारण बरोबर है नमो आयरियान बरोबर है नमो आयन बरोबर नमो लोहे सर्वथा बरबर नमो हरिहंता किसको बोलता है कई बार तो बोलने लगा स्वामी शिक्षक तो हम्म। आप विचार करके बोलो स्वामी शिक्षक तो, तो सिद्ध हो गया हम्म, अरिहंतानंद नहीं को अरिहंत कैसे बोल रहे हैं बहुत बड़ी भूल होती है पहले से भूल रही આખા માર્ગ ઉપર એ ભૂલ ચલ રહી હતી અને इससे भूल नहीं होता है तो फिर हमने बोलने लगा कि क्या हमारे करने का तो मैंने बताया कि श्रीमद स्वामी का अरिहंत मान लो इसलिए अभी अभी है अभी है समिंदर स्वामी किधर भी है मगर है आप समझ रहे प्रत्यक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो वो सिद्ध हो गया दोस्तों और सिद्ध को अपने ये बोलना अरिहंत बोलना ये- ये आचार्य को आज भी उपाध्याय बोलना चाहिए आज भी एक नहीं बीस हाँ बीस तीर्थंकर तो विधर्मान और और भी ज्यादा हो सकते हैं એ કે છે અત્યારે વીસ તીર્થંકર એક નહીં પણ વીસ તીર્થંકર વિહારમાં છે नहीं वही किसी की बात होती है और सिमंदर स्वामी की बात होती है हाँ हाँ वे भी है अपने ये भूमिका के लिए ये भारत भूमि के लिए सिमंदर स्वामी की बात और है हम्म। वो सबके लिए बार हो जीवन दर्शना विकास वो हम इनको सबको भलामण करता है कि जीवन दर्श स्वामी साथ तो कोई बोल नहीं आपको ठीक लगता है और हम तो हमारा कोई हमारा आश्रम कोई नहीं है हमारे लिए इनकी जगह भी नहीं है कोई क्योंकि हमें आश्रम रखने वाला आपकी नहीं है हमारी भी नहीं है हमारी भी नहीं है તમારો નથી ને અમારો નથી नहीं मेरा तो कुछ है ही नहीं नहीं हमारा भी कुछ भी सब लोग नहीं नहीं सब लोग बोलता था हाँ। कि आपके लिए आप कुछ मोटा बड़ा आश्रम बनाएं। लेकिन मेरे को आश्रम आश्रम की जरूर नहीं वो आश्रम में सब लोग आएगा फिर विश्राम करेगा वहाँ क्या करेगा सब अभी आज विषम काल है ना विषम काल में आश्रम में विश्राम करता है सब लोग। आप समझ रहे हैं? सब लोग के नहीं पर मगर कितना लोग तो ऐसे ही करता है आपके समझ था ऐसे એટલે આમ તો એ મનતા નહીં આમ તો એક ઝાડ નીચે બેઠો સત્સંગ કરો फिर हमको एक संकेत हुआ कि सुमंदर स्वामी का मंदिर बनाओ और इनके साथ कृष्ण भगवान का मंदिर वासुदेव जो सला का पुरुष है इसका एक मंदिर बनाओ और इनके साथ नमस्कार का मंदिर बनाओ इतना ऐसा संकेत संकेत हमको मिला है તો એ તૈયારી ચિહ્નો આપને મંત્ર ને જે ચિહ્નો રખે મંત્ર માં પણ ત્રણેય છે હા મંત્ર કે હું આચાર્ય મેરી મેરી ખ્યાલ આવ્યા